بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرفنا بصيام شهر رمضان وأنزل على حبيبه القرآن والصلاة والسلام على حبيبه محبوب الإنس والجان وعلى آله وأصحابه أجمعين هدى للناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا या सैदी या रसूल अल्लाह वाला आली का व सहाबी का या हबीब अल्लाह मौला या सल्ली वसलम दा ईमन अबदा आला हबीबी का खैरिल खल की कुल्ली हिमी الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم अल्लाह तबारक व ताला जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू व तम्मा बुरहान व जमा शान की हमद सना और हजूर पुरनूर शाफ यमन नशूर दस्तगीर जहां गम गुसार जमा सैद सरवारा हामी बेकसा खुदा तला के हबीब दो जहां के तबीब अहमद मुजतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबी वबारक वसलम के दरबार गहरबार में हदिया दरुदसलाम अर्ज करने के बाद मोहतरम सामीन माह मुबारक की बख्शिश का खसूसी अशरा अपनी शहादतों से फर्जंदान इस्लाम को नवाज रहा है रमदानुल मुबारक का दूसरा जुमातुल मुबारक है हालत रोजा में हम सब अल्लाह की बारगाह में हाजिर हैं दुआ है खाल के कायनात जल्ला जलालू हमारी इस नहायत अहम हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए मोहतरम सामीन गुजशत मुबारक में एक नहायत अहम फिक्री मौजू पर गुफ्तगु आपने समाप्त की मफहूम कुरान बदलने की वारदात उसका एक हिस्सा आपने सुना और मुल्क के तूल अर्ज में उसके केसेट पहुंचे और बहुत अतराफ से दूसरी किस्त का मुतालबा किया जाता रहा तो अल्लाह के फजल से एक साल के वक्फे के बाद आज उस मौजू की दूसरी किस्त आप हजरात के सामने पेश करना चाहता हूं दुआ है खाल के कायनात जल्ला जलालू अल्फाज को तासीज और अंदाज को हुसन अता फरमाए और बात को समझने समझाने की तौफीक मरहमत फरमाए पिछले साल इस मौजू पर जो गुफ्तगु हुई थी शायद आप में से कुछ हजरात वो सुन के आए हों उस मौजू पर आज की सारी गुफ्तगु का मदार और तवक्फ है मौजू का तारुफ तो आपके जेन में मौजूद है कि कुरान मजीद बुरहान रशीद जो किताब हिदायत है और जिसे हुदलनास कहा गया तमाम इंसानियत के लिए हिदायत है तमाम तबकात के लिए हिदायत है दुनिया के किसी कोने में भी कोई इंसान बसता है उसका ताल्लुक सोच के किसी तबका के साथ भी है कुरान मजीद में उसके लिए हिदायत मौजूद है और कुरान मजीद उसे राह हक की तरफ बुलाता है शर्क व गरब शिमाल जुनूब मशरक व मगरब अरब व अजम हर तरफ कुरान मजीद बुरहान रशीद की हिदायत मौजूद है और हर बंदे को कुरान मजीद रहनुमाई उसकी हक की तरफ कर रहा है कुरान मजीद बुरहान रशीद से कुछ लोगों ने अपने गलत मकासद पूरे करने के लिए इस्तदलाल किए फिर उनमें से कुछ तो सहवन गलती कर गए और कुछ जानबूझ के अपने हिर्स और ख्वाहिश को साबित करने के लिए कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयात को गलत उसलूब में इस्तेमाल करते रहे और कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर मानवी तहरीफ के वो मुरतकब हुए तर्जमा कुरान मजीद में गलतियां की गईं और इस तरह करके एक बिगाड़ की सूरत सामने आई हमारा ये मौजू तर्जमा की गलती से मुतालिक नहीं है कुरान मजीद के तर्जमा की गलती चूंकि कुछ भी सूझबूझ रखने वाले इंसान के लिए जो कि कुरान मजीद पढ़ता रहता है और तर्जमा कुरान मजीद से कुछ आगही और वाकफियत रखता है वो तकाबली तौर पर भी तर्जमे की उन गलतियों पर मुतले हो जाता है लेकिन एक इससे अगला मकाम है वो है मफहूम कुरान मजीद में गलती करना यानी कुरान मजीद बुरहान रशीद से तर्जुमा सही करके अपना गलत मकसद निकालना उसको ऐसे तनाजुर में बयान करना कि बगैर लफज बोलने के आपका मकसद उससे साबित हो जाए जिस तरह के कोई शख्स किसी को किसी बात का चकमा देता है लफ्जों में उसका जिक्र नहीं करता अपनी हैत कजाई से अपनी हालत और कैफियत से अपने इशारों से एक बात का इजहार करता है हालांकि वो वाकई में मौजूद नहीं होती और ना ही वो अपनी जुबान से वो कह रहा होता है लेकिन मुखातब उसके गलत मतलब को समझता है और उससे फरेब खा जाता है और उसको गलती लग जाती है कुरान मजीद बुरहान रशीद को कुछ लोगों ने ऐसे तनाजुर में इस्तेमाल किया आयात को सही पढ़ा तर्जमा भी सही किया मगर कुरान मजीद बुरहान रशीद से जो उन्होंने उस वक्त साबित करना चाहा मफहूम जो लेना चाहा वो मफहूम कुरान मजीद की मर्जी के मुताबिक नहीं था बल्कि वो उनका अपना खुद साख्ता मफहूम था जिसको साबित करने के लिए उन्होंने कुरान मजीद का गलत इस्तेमाल किया इस मफहूम की गलती की बहुत सी मिसालें पिछली किस्त में आईं और उनमें वो लोग जो हजरत अली रदी अल्लाह तला के मुकाबले में निकले थे और जिन्हें खवारिज कहा गया हजरत अली रबी अल्लाह तला को उन्होंने माजल्ला काफिर करार दिया तो कुरान मजीद की आयत पढ़ के उन्होंने ये कुफर का फतवा लगाया इनिल हुक्म इल्ला हुक्म अल्लाह का है और फैसला उसी का होता है क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह तला ने हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तला के साथ सुलह करते हुए गैरुल्लाह को हकम मान लिया है और गैरुल्लाह को फैसल मान लिया है लिहाजा इन्होंने कुरान मजीद की मुखालफत की है और कुरान मजीद में जो हसर किया किया था कि हुक्म सिर्फ अल्लाह का है उसकी मुखालफत करने की वजह से माज अल्लाह ये दायरा इस्लाम से खारिज हो गए हैं ये बात उन्होंने कुरान मजीद बुरहान रशीद से साबित करने की कोशिश की और एक सिहाबी को और खलीफातुल रसूल को और अमीर उलमोमिन को उन्होंने कुरान मजीद की आयत से काफिर साबित करने की कोशिश की हालांकि ये उनका ईमान और उनकी तस्दीक और उनका इकरार और उनका अकीदा ये सारे का सारा रोजे रोशन की तरह आया था और आया है वो ईमान के आला दर्जात पर फाइज थे लेकिन इन लोगों ने कुरान मजीद बुरहान रशीद को उसके गलत पस मंजर में जो अपनी तरफ से उन्होंने बना रखा था उसमें आयत को पढ़ के और मफहूम गलत लिया जिसकी वजह से बहुत सा बिगाड़ पैदा हुआ और फिर बिल लाकर उन लोगों को शदीद सजाएं दी गईं और किताल की सूरत में उनकी तहरीक को खत्म कर दिया गया वो सारी बातें तफसीलन पिछले मौजू में आ चुकी हैं आज भी हम मजीद कुछ ऐसी मिसालें कुरान मजीद से सामने लाएंगे और फिर मौजूदा दौर के अंदर जो लोग फिक्री तौर पर इस जुर्म में मुलवस हैं कि वो कुरान मजीद के मफहूम को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी निकाब कुशाई करेंगे ताकि इस माहौल के अंदर जो बहुत से ऐसे मसाइल पैदा हो गए हैं जिन्हें कुरान मजीद की बाहिर हिमायत में वो पेश करते हैं और कुरान मजीद की आयात से अपना मतलब निकालना चाहते हैं हालांकि उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है तो हम निशानदेही करेंगे कि यहां कैसे वो फिक्री वारदात कर रहे हैं मफहूम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सादा नौ मुसलमान उनके दाव पेश से महफूज हो जाए और कुरान मजीद की हकीकी हिदायत की तरफ उनकी रहनुमाई हो सके मोहतरम सामीन इस सूरत में एक मफहूम की गलती शाम के कुछ लोगों ने की हजरत अली रजी अल्लाह तला का दौर था तो शाम के कुछ लोगों ने शराब की हिल्लत का कौल किया उन्होंने कहा कि शराब पीना जायज है और उन्होंने ये जवाब कुरान मजीद से पेश किया हजरत अली रजी अल्लाह तालानों के पास उन्हें पेश किया गया आपने उन्हें जब उनसे पूछा तुम ऐसा काम क्यों करते हो वो बाहिर मुत्तकी लोग थे और बड़े परहेजगार नजर आ रहे थे तो आपने फरमाया तुम शराब क्यों पीते हो और जुए का माल क्यों खाते हो तो उन्होंने कहा इसका तो हमारे पास जवाब मौजूद है आपने फरमाया क्या जवाब है तो उन्होंने सातवें पारे की यह आयत पढ़ी इस अपने मकसद को साबित करने के लिए लई सालजीन आमनु वामिलहात जुनाहन फी ताइमू इजा मत्ताको जो लोग ईमान ले आए और उन्होंने नेक काम किए उन पर कोई हरज नहीं उस शय में जो वो खा जाएं उन पर कोई हरज नहीं जो मोमिन है और नमाजें पढ़ते हैं मोमिन है और रोजेदार हैं मोमिन हैं और अमले साले करते हैं उन पर कोई हरज नहीं फी माताइमू जो भी वो खा जाएं खा वो जुए का माल हो खा वो शराब हो खा हाँ, वो शराब की कमाई हो उन पर इस मामले में कोई हर्ज नहीं मत तको जब तक वो डरते रहें ये आयत उन्होंने जवाज के तौर पर पेश की अब जब इसका तर्जमा एक आम आदमी समझेगा आम आदमी के सामने इस तर्जमे को बयान कर दिया जाए और फिर इससे ये मफहूम अखज करके बताया जाए तो आम शख्स तो बिल्कुल इस बात को तस्लीम करने पर आ जाएगा कि अल्लाह तबारक वाली ने तो मुतलकन इजाजत दे दी है सिर्फ बंदे के लिए यह शर्त है कि वह मोमिन हो और फिर परहेजगार हो यानी दूसरी परहेजगारी उसमें मौजूद हो वो नमाजी हो और फिर शराबी हो वो बाहिर ये सारी पाबंदियां करने वाला हो लेकिन अल्लाह ने उसको खाने पीने के मसले में बिल्कुल बरी कर दिया है फी मा पाइमू इजामत तको जो भी वो खा जाए खा वो जुए का माल हो खा वो शराब हो खाल के कायनात ने उन पर किसी किस्म का कोई हरज नहीं रखा और ना ही उनसे कोई इस बारे में पूछ गूछ होगी अब देखो कितना बड़ा अंधेरा इस्तेदलाल था दिन को रात कहने वाली बात थी उसी सूरा में तो यहां पर शराब को हराम किया जा रहा है और उसी से वो इस्तेदलाल जवाब का कर रहे थे इसी मकाम पर तो जुए को चंद आयात पहले हराम किया जा रहा है और इसी से वो जवाब का इस्तेदलाल कर रहे थे हजरत अली रजी अल्लाह तहों ने जब उनकी इस बात को सुना आपको ताजुब भी हुआ लेकिन आपने फौरन इसका जवाब देते हुए उन लोगों को इबरतनाक सजा दी जवाब इसका क्या था अब आम एक सादा नौ इंसान उसके सामने आज लोग कुरान मजीद खोल के बैठ जाते हैं और फिर दर्श देना शुरू कर देते हैं हदीस शरीफ तो अभी बाद की बात है बुखारी और मुस्लिम के अंदाज और आदाब और उनको समझने के जो उसलूब है वो तो बाद की बात है खुद कुरान मजीद बुरहान रशीद में देखिए किस कदर गहराई है और किस कदर इससे लोग गुमराही भी हासिल कर लेते हैं अम लजीना फी कुलूब हिम मारादुन फजादा तुम रिजसन इला रिज हिम वमातु वहम का फिरून जिनके दिलों में मर्ज होता है कुरान मजीद बुरहान रशीद से उनका रिज गंदगी बढ़ती है कुरान मजीद से उनमें नूर पैदा नहीं होता कुरान मजीद से उनमें गंदगी और गलाजत बढ़ती जाती है और फिर वो गुमराही और कुफर की हालत में ही दुनिया से चले जाते हैं हालांकि वो कुरान मजीद से इस किस्म का ताल्लुक भी बनाए हुए हैं लेकिन इसके बावजूद चूंकि दिल में मर्ज मौजूद है लिहाजा कुरान मजीद के कसरत मुताला से चूंकि उन्होंने खतूत ही वो अपना रखे हैं जिनसे उनके मर्ज को गजा मिलती है शिफा नहीं मिलती लिहाजा वो सारी जिंदगी साथ मुतल भी रहते हैं लेकिन मर्ज बढ़ता रहता है यु दिल्लु भी कसीरा व यह भी कसीरा उनके हिस्से से कुरान मजीद से वो दलालत और गुमराही पा लेते हैं जिसकी वजह से दीनों दुनिया के लिहाज से वो लोग खाइबो खासिर हो जाते हैं अब ये आयत करीमा हजरत अली रजी अल्लाह तहो ने जब यह सुनी तो इसका जवाब उन्होंने क्या मरहमत फरमाया इसका जो पहला हिस्सा है जो एतराज और उन लोगों का इस्तेदलाल जो था ये तहावी जो शरामानी आसार के नाम से हदीस की मशहूर किताब है अहनाफ की उसमें वो मौजूद है कि इस तरह शाम के उन लोगों ने इस्तलाल किया और इसका हकीकी मतलब वो बुखारी शरीफ में मौजूद है और इसे ही सारे अहनाफ की तफासिर में और मुस्तनद माखज में इस बात का असल मकसद जो है वो मौजूद है उससे पता चलेगा कि इस आयत का हकीकी तर्जमा यह करते हुए माना और मफहूम इससे क्या समझा जा सकता है असल में यह हुआ कि जिस वक्त शराब हराम हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हुक्म दिया कि अहले मदीना तुम पर शराब हराम कर दी गई है मेरी उम्मत शराब हराम हो चुकी है तो इस तरह लोगों ने शराब बहाई सिहाबी कहते हैं कि मदीना शरीफ की गलियों में शराब इस तरह बहती हुई नजर आई इसके साथ ही सिहाबा के कुछ सिहाबा के जहनों में यह सवाल पैदा हुआ वो फौरन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए उन्होंने जो उनके दिलों में अचानक नफरत शराब की पैदा हो गई और इसको इतना उन्होंने गंदा अपने नजदीक समझ लिया और वाकई उनके नजदीक इसको करार दे दिया गया तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोतिला कौम वहिया फी बुतून हिम हमारे भाई जो मुसलमान थे और अब तक वो शहीद हो चुके हैं वो जब शहीद हुए थे तो शराब उनके जिस्मों में थी उनके पेटों में शराब मौजूद थी तो अब उनका क्या बनेगा ये इतनी हराम चीज है इसको रिज करार दे दिया गया इसको इतना गंदा बना दिया गया और इसको इस कदर इससे इज्तनाब का हुक्म फरमा दिया गया तो जो भाई हमारे हालत इस्लाम में थे शहीद हो गए हैं उहद में और ही आफी बतून हिम ये उनके पेटों में थी जब वो शहीद हुए हैं तो अब उनका क्या मामला होगा इतनी पलीद चीज और उन पाक लोगों के अंदर हो तो उनका क्या बनेगा जब उन्होंने ये सवाल किया तो अल्लाह तबारक व ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई लई सजीन आमनु व आमिलसालिहाती फी मा ताइमू इजामत तको मेरे सिहाबा उनके बारे में तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है जब वो ईमान ले आए और उन्होंने नेक अमल किए क्योंकि उस वक्त तक शराब हराम नहीं की गई थी लिहाजा जो कुछ उन्होंने इस्तेमाल की है उसके बारे में कोई पूछ गूछ नहीं होगी उसका कोई हरज नहीं है जो उन्होंने खा लिया उसका कोई हरज नहीं है दुनिया से चले गए जब उन्होंने दूसरा तकवा इख्तियार कर रखा था जो उस वक्त का निसाब था उस पर पूरा उतर रहे थे ये बात उनके निसाब में शामिल ही नहीं की गई थी लिहाजा मेरे महबूब के गुलामों तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है उन्हें इस बारे में किसी किस्म का कोई सवाल नहीं किया जाएगा अब यह हकीकी मतलब है तर्जमा तो एक होगा मगर मफहूम यह है अगर अब कोई हवा परस्त आदमी इलिस और खार्ज का पुजारी आज खड़ा हो जाए और कहे कि शराब की हरमत पर हमें महज कोसा जाता है ये तो जायज है और कुरान मजीद की यह आयत पढ़े और अपना ये इस्तेदलाल करना चाहे तो कर सकेगा लेकिन उसका ये मफहूम निकालना सरासर गलत होगा सरासर झूठ होगा उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होगा तो जिस तरह आपने ये सूरत हाल देखी ऐसे ही अकायद के बहुत से मसाइल में लोगों ने ऐसे आयात को अपना माजल्ला आला कार बना रखा है और जो वो मफहूम उन आयात से साबित करना चाहते हैं उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है जैसे यहां इस आयत में शराब की हिल्लत का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है दूसरी मिसाल देखिए हम जिंदगी में नेक अमल करते हैं तो हमारे ऊपर एक खौफ सवार है कि कल हमारी पूछ होगी हर सांस का हिसाब होगा हर लफ्ज का हिसाब होगा हाथ का हिसाब होगा कान का हिसाब होगा दिन का हिसाब होगा रात का हिसाब होगा मेरी सुबह का हिसाब होगा शाम का हिसाब होगा मेरे हर महीना और हर साल का हिसाब होगा लिहाजा बंदा उस हिसाब से डरता हुआ अपनी जिंदगी तकवे के साय में गुजारने की कोशिश करता है लेकिन अगर कोई शख्स आज एक तहरीक का आगाज करे और कहे कि मैं लोगों को बेअमल बनाना चाहता हूं और मैं लोगों को इस खौफ से निजात देना चाहता हूं जो इन पर इनके जहनों पर तारी है और हर वक्त कोई तस्वीर पढ़ रहा है कोई नफल पढ़ रहा है कोई नमाज पढ़ता है कोई रोजा रख रहा है इस खौफ से मैं इंसानी हकूक के पेश नजर इंसान को बरी करना चाहता हूं और इसका वो अपना मंशूर पेश करता हुआ वो दलील कुरान मजीद से पेश करे किस तरह कुरान मजीद के सताइसवें पारे में है सूरह रहमान में फयम इजिल्ला युस अन जम्बेही इन सू वला जान क्यामत के दिन इंसान और जिन से उसके गुनाह के बारे में कोई सवाल ही नहीं होगा ला युस अन जम्बेही इसके गुनाह के बारे में पूछा ही नहीं जाएगा इंसू वला जान ना तो इंसान से कोई सवाल होगा और ना ही जिन से कोई सवाल होगा तो जब सवाल नहीं होगा तो हमें फिर मरने की जरूरत क्या है भूखा रहने की जरूरत क्या है प्यास बर्दाश्त करना यख बस्ता रातों में क्याम करना सारी जिंदगी डर डर के तकवे के साय में गुजारना और जिंदगी भर मुहतात और पाबंद रहना इसे की जरूरत क्या है तो सवाल ही नहीं है ना दिन की हरकत का सवाल है ना रात के काम का सवाल है ना हाथ के काम का सवाल है ना जुबान के काम का सवाल है जिन्नों इंसान से तो कोई सवाल ही नहीं किया जाएगा खुद खाल के कायरात फरमा रहा है उसने माजल्ला बंदे को खाने पीने के लिए पैदा किया है लिहाजा खाओ पियो और बिल्कुल इन लोगों की और अमा की बात को ना सुनो मस्जिद की तरफ ना जाओ और नेकी के काम ना करो इस वास्ते कि यही जहान है यही जिंदगी है फिर कोई सवाल होगा ना कोई जवाब होगा इस वास्ते कि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है ला युस अल जम्बे ही इन वला जान इंसान और जिन से कोई सवाल नहीं होगा अब तर्जमा तो यही है तो क्या मफहूम भी यह है क्या कुरान मजीद का पैगाम भी यह है क्या कुरान मजीद की दावत भी यह है क्या कुरान मजीद का मिजाज भी यह है क्या कुरान मजीद का खुलासा भी यह है वो तो हर लवा बंदे को डरा रहा है मा यल मिन कौलिन इल्ला लदई है रकीबुल आतीद बोलने वाले होश करके बोल तू बोलता है तेरे कंधों पे बैठने वाले तेरे हर लफ्ज को लिखने के लिए बैठे हैं हर सांस का हिसाब होगा हर लम्हे का हिसाब होगा हर मिनट का हिसाब होगा ये पूरी की पूरी जिंदगी तेरी हिसाब में गुजरेगी तो इससे सवाल होगा पूछा जाएगा अब उधर वो शख्स जो ये आयत पेश करता है तर्जमा भी यही करेगा और मफहूम जो निकालेगा वो मफहूम इस्लाम से दूर का ताल्लुक भी नहीं रखता अब सादा लो इंसान कहेगा कि मैं तो सब कुछ छोड़ के कुरान के पीछे आया हूं और कुरान की बात ही मानता हूं तो जब इस आदमी के कहने पर कुरान की बात मान लेगा तो क्या वो कामयाब हो जाएगा यकीनन नाकाम हो जाएगा जहन्नमी बन जाएगा क्यों इस वास्ते के कुरान मजीद का मफहूम समझने के लिए सारी आयात को देखना पड़ता है और तर्जमा फिर समझ में आता है कि इसमें हकीकी मतलब क्या है अब हम देखते हैं तो यहां पर है कि उससे सवाल नहीं किया जाएगा लेकिन दूसरे मकाम पर सूरह हजर में अल्लाह तला का फरमान चौदहवें पारे में क्या है फरमा फावर रब्बी का लनस अलन्नहुम अजमाइन हम मा कानू या मालूम महबूब मुझे तेरे रब की कसम फावा रबी का मुझे तेरे रब की कसम लनस अलन्नहुम हम हम जरूर इनसे सवाल करेंगे लाम भी ताकीद के लिए नून भी ताकीद के लिए अजमाइन सारे लोगों से सवाल करेंगे हम मा कानू या मालूम जो भी ये करते रहे जो भी इन्होंने किया दिन को किया रात को किया पहले पहर को किया पिछले पहर को किया हाथ से किया जुबान से किया आंख से किया कान से किया जो भी ये कर रहे हैं महबूब हम हर चीज का इनसे सवाल करेंगे अब ये भी आयत है कुरान मजीद की वो भी आयत है कुरान मजीद की और फिर मजीद में पारे में है साफ पात में वाकिफू हम इन्ना हम मस्तूलून फरिश्तों जरा इनको ठहराओ यहां पर इनसे पूछा जाएगा इन न हूं मस्तूलून इन्हें अभी जल्दी ना ले जाओ मैं इनसे पूछना चाहता हूं मैंने इनको पैदा किया था इन्होंने कितने मेरे हकूक पूरे किए हैं मैं इनसे पूछना चाहता हूं मस्तूलून ये सवाल किए जाएंगे इनसे सवाल होगा इनके सवाल के बगैर नहीं छोड़ा जाएगा अब ये आयात तो इतनी ताकीद के साथ सवाल को लाजिम करार दे रही है कि सवाल जरूर होगा लनस अलन्नहुम अल्लाह तारा ने कसम भी पहले उठाई महबूब तेरे रब की कसम हम जरूर ऐसे सवाल करेंगे जो तुझे तंग करते हैं जो तुम्हें पत्थर मारते हैं तुम्हारी राहों में कांटे बखेरते हैं तुम्हारी तोहीन करते हैं मेरा हुक्म नहीं मानते इन गाफिलों से इन फासिकों फाजरों से इन काफिरों मुनाफिकों से हम जरूर सवाल करेंगे सबसे सवाल होगा मोमिन से होगा काफिर से होगा हम माकानू या मालूम जो भी ये करते रहे हैं बंदा इंसान जो भी करता है हर चीज का इससे सवाल होगा अब कुरान मजीद वो भी वाजे नजर आ रहा है ला युसालो ला नफी के लिए है ला युसालो अनजम्बेही इंसू वाला जान ना इंसान से सवाल होगा ना जान से सवाल होगा तो अब मतलब क्या है मतलब तर्जमा यही है जो मैं कर रहा हूं कोई तर्जमा आप पढ़ें लेकिन अगर कोई शख्स यहां से फिक्री वारदात करना चाहता है वो लोगों को बेमल बनाने के लिए दीन से दूर करने के लिए यहां से इस्तलाल कर सकता है लेकिन हकीकी मकसद इन आयात का क्या है क्योंकि कुरान मजीद तो कुरान है ही इसलिए कि इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है अलहमद से लेकर वन्नास तक ये सारा एक ही उसलूब पर है कहीं भी इसकी आयात आपस में अपोजिट नहीं है इसके मजमून नहीं टकराते तो फिर अब वाजे तौर पर यह एक सादा इंसान को तो इतना बड़ा फर्क नजर आएगा तो ये फर्क दूर कैसे हो सकता है ये फर्क तब दूर हो सकता है जब इंसान को तर्जमा कुरान मजीद के साथ अल्लाह की बारगाह से दी हुई हिदायत भी हासिल हो वह कुरान मजीद बुरहान रशीद को सिर्फ अल्फाज के तर्जमे पर इक्तफा करने वाले लोगों की इब्तदा में ना जाए बल्कि जो कुरान मजीद की मफहूम पर पहरा देने वाले हैं उनकी बात को भी सुने यकीन क्यामत के दिन सवाल होगा और सवाल नहीं होगा दोनों बातें सच्ची हैं ये जो फरमाया गया कि ला यू युसालो सवाल नहीं होगा तो सवाल की दो किस्में हैं एक सवाल वो होता है जो पूछने वाला सवाल करने वाला जिससे सवाल कर रहा है उससे बतौर इल्म सवाल करता है क्या तूने पानी पिया है इसको पता नहीं खुद कि उसने पिया है या नहीं पिया तो ये उससे पूछता है फिर इसको इल्म आता है हल्के कायनात चूंकि खुद जानता है कि हर एक ने क्या कुछ किया है फरमान मुझे तुमसे पूछकर जानने की कोई जरूरत नहीं है उस दिन जिन्हों इंसान से पूछा नहीं जाएगा कि तुमने क्या कुछ किया था मुझे खुद ही सब कुछ मालूम है ला युस अन अलबे ही इंसू वाला जान तुम्हें यह ना मुगलता रहे कि चूंकि हमने ही बताना नहीं बताएंगे तो उसको पता कैसे चलेगा हम बताएंगे ही नहीं तो फिर सामने बात किस तरह आएगी अल्लाह तला ने फरमाया इस मुगालते में ना रहना मुझे तुमसे पूछने की जरूरत ही नहीं है ला युस अन अलसम ही इंसू वाला जान जिन्नो है सवाल नहीं किया जाएगा ऐसा सवाल कि जिससे मकसद उनसे पूछ के इल्म हासिल करने वाला हो कि अल्लाह तला को पता चले कि फुलां बंदे ने कितनी नाफरमानी की फुला ने कितनी की फुला ने कितनी की पर मैं ऐसे पूछ के मुझे सवाल की जरूरत ही नहीं है इस तरह का सवाल तुमसे नहीं किया जाएगा गलती में ना रहना कि तुम कहो कि हम बताएंगे तो पता चलेगा मुझे सब कुछ पहले ही मालूम है अब ये जो सवाल नहीं होगा वो ये है और दूसरा सवाल फवरबी का लनस अलन्नहुम महबूब हम इनसे सवाल करेंगे इसका मतलब क्या है पता अंदाज महबूब ये जो तुम्हारी दुश्मनी कर रहे हैं हम इनसे पूछ लेंगे हम जरूर इनसे पूछेंगे ये अबू जहां लुतबा शहबा अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल और ये तुम्हारे मुनकर जो तुम्हें तकलीफ देते हैं फवा रब्बी का महबूब मुझे तेरे रब की कसम लाना सालम न हम हम इनको नहीं छोड़ेंगे हम इनसे पूछेंगे इस सवाल से मुराद तो बीख वाला सवाल है जो डांटने के अंदाज में होता है झिड़कने के अंदाज में वो जो झिड़क रहा है पहले जानता है किसने ये गुना किया है सवाल जानने के लिए नहीं कर रहा झिड़कने के लिए कर रहा तूने यह किया है तो यह अंदाज जो है ये पहले जानता है किसने ये किया है लेकिन ये सवाल डांटने के लिए झिड़की देने के लिए उनको पानी पानी करने के लिए उनको शर्म दिलाने के लिए उन पर आजाद पारित करने के लिए यह सवाल किया जाएगा हशर में सवाल होगा भी सवाल नहीं भी होगा होगा वो ये डांटने के लिए और नहीं होगा इलम के हसूल के लिए अब दोनों तरह की आयात हैं और बजाहिर कितना इनमें आप फर्क महसूस कर रहे थे लेकिन हकीकत में कोई फर्क नहीं है इस वास्ते कि हमने मफहूम नहीं छोड़ा कुरान का जो कुरान मजीद का खुलासा है कि सवाल होगा इंसान से जो कुरान मजीद का असल आने का मकसद है वो चूंकि हमने उसको सामने रखते हुए ये बात देखी है तो हमारे सामने रोशनी हो गई है कि वो जो फरमाया गया कि सवाल नहीं करेंगे उसका यह मकसद है और जो फरमाया गया कि सवाल जरूर करेंगे उसका यह मकसद है कितना आदमी परेशान होता है मुझे बड़ा तजुब आता है जब कुछ शख्स कहता है कि मैंने फला दर्श सुना और वो तो कुरान मजीद से यह साबित कर रहे थे कुरान मजीद से क्या कुछ नहीं साबित किया जा सकता अगर किसी की सोच बदल चुकी हो और किसी का जमीर बिगड़ चुका हो किसी की किस्मत में अंधेरा लिखा जा चुका हो इसी कुरान मजीद से उसको अपने अंधेरे भी मिल सकते हैं अब देखो ये शख्स जो कि किसी तरह का अगर एजेंट बन जाए आज एनजीओज का और इंसान के हकूक के नाम पर वो लोगों को बिल्कुल बेखौफ करना चाहे तो इसी आयत से इस्तेलाल करके वो बड़े बड़े पोस्टर से पा सकता है ला युसलवान जम्बही इंसू वाला जान इंसान का तो कोई हिसाब नहीं होगा लिहाजा लोगो जो चाहो खाओ पियो कोई भी डरो नहीं इस वास्ते तुमसे तो पूछा ही नहीं जाए फिर देखिए कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह तबारक व ने सोलहवें पारे में फरमाया लोगों के अमल खत्म हो गए फला नुकी मुलहम यामल कियामत वजना हम क्यामत के दिन उनको वजन ही नहीं बनाएंगे यानी उनके अमल नहीं तोलेंगे हम उनके अमल नहीं तोलेंगे ये है अब ये भी उसी सिलसिले की एक दलील हो सकती है कोई शख्स ये कहे कि वजन तो हो गई नहीं फला नुकी मुलहम यामल क्यामत वजना हम उनके लिए तराजू ही नहीं रखेंगे हम उनके अमाल तोलेंगे ही नहीं तराजू नहीं होगा अमाल नहीं तोले जाएंगे फिर फैसला ही नहीं होगा तो फिर मौज हो जाएगी कुछ भी नहीं होगा अब यह है वजन नहीं किया जाएगा और दूसरे मकाम पर आठवें पारे में अल्लाह ताला फरमाता है वल वजन योम इजन हक उस दिन वजन हक है वजन जरूर होगा हमन सकुलत मवाजीन हूं फाउलाए कहमुल मुफलिहून जिनके पलड़े भारी होंगे वो जन्नती बन जाएंगे जिनके हल्के होंगे वो जहन्नमी हो जाएंगे वजन जरूर होगा अब इधर यह है कि हम उनके लिए तराजू ही नहीं रखेंगे उधर यह है वजन जरूर होगा अब पहली आयत से शख्स एक वारदात करना चाहता है कि वजन से बेखौफ करना चाहता है लोगों को तो हम उसकी उस वारदात को पकड़ने के लिए अहादीस तो अपने मकाम पर रह गई बुजुर्गान दीन के अखबार सिहाबा के आसार तो अपने मकाम पर रह गए खुद पुराने मजीद से ही हम ऐसे मुताद ऐसे शवायद पेश कर सकते हैं कि इस आयत के तर्जमा में जो कुछ तुम समझ रहे हो ये मुराद नहीं है मुराद कुछ और है तर्जमा तो यही है मगर ये हकीकत नहीं है तर्जमा तो ये है मगर ये कुरान मजीद की मर्जी नहीं है तर्जुमा तो यह है मगर यह कुरान मजीद का मफहूम नहीं है मतलब नहीं है कुरान मजीद समझाना कुछ और चाहता है क्योंकि दूसरे मकाम पर फरमा दिया गया वजन उस दिन हक है सबका काफिरों के अमाल का भी वजन होगा मोमिनों के अमाल का भी वजन होगा वजन हक है तो इधर क्यों फरमा दिया कि उस दिन हम उनके लिए मीजान ही नहीं रखेंगे फला नकीम यमल कियामत वजना हम उनके अमाल का कोई वजन नहीं बनाएंगे मोहतरम शामिल अब इसका मफहूम क्या है जो सही मफहूम है वो ये है खाल के कायरात ने फरमाया महबूब जिन लोगों ने कुफर किया अगरचे वो सदका करें अगरचे वो खैरात करें अगरचे वो काबे की खिदमत करें अगरचे वो हाजियों को पानी पिलाए महबूब ये सारे अमल हमारे नजदीक इनकी कोई वैल्यू नहीं है ये नहीं कि तोले नहीं जाएंगे फरमा तोले जाएंगे मगर इनका वजन ही नहीं निकलेगा नबी अकरम वसल्लम ने फरमाया था हल अबू सईद खुदरी कहते हैं कि कुछ लोग क्यामत के दिन आएंगे और उनके इतने अमल अपने समझेंगे कि वो मक्का शरीफ के पहाड़ों से ज्यादा भी उनका वजन उनके ख्याल में होगा लेकिन जब पलड़े में रखे जाएंगे तो एक दिन के जितना वजन भी नहीं निकलेगा तो वजन करने की नफी नहीं हिसाब करने की नफी नहीं वजन भी होगा हिसाब भी होगा ला नुकीम लहम यौम अलकियामत वजना का मतलब यह है महबूब इनके आमाल का मेरे नजदीक कोई कदरों कीमत नहीं है इनका मेरे नजदीक कोई वजन नहीं है इनकी कोई हैसियत नहीं है इनका कोई मकान नहीं है इनका कोई मरतबा नहीं है वजन जरूर होगा मगर ये जो कहा गया कि वजन नहीं है उनका मतलब ये है कि उनके आमाल की कोई हकीकत नहीं है क्योंकि वो काफिर हो गए हैं लिहाजा सारे के सारे आमाल रायगा और जया चले गए हैं अब इन मिसालों के बाद मिसालें बहुत सी मजीद दी जा सकती हैं मैं इसको आप वाइंड अप करते हुए इसकी तलखीस आपके सामने रखना चाहता हूं कैसा जुल्म हुआ यह महज मैं अफसानवी तर्ज में नहीं कुरान मजीद का अंदाज आपको समझा रहा हूं और अगर आप तारीख में जाकर पीछे देखें तो हर जगह से किसी न किसी ने ठोकर खाई है और इन बातों को लेकर वो आगे चला है चलो उधर जाने की जरूरत नहीं आपके इस माशरे में बहुत से लोग मौजूद हैं जो ऐसे ही कुरान मजीद की आयात पढ़ते हैं तर्जमा भी सही करते हैं मगर ठोक कर खा गए हैं और मफहूम गलत समझ बैठे हैं रबी अव्वल शरीफ का महीना होता है मुस्लिम उम्मा मिलाद शरीफ मना रही होती है खुशियां होती हैं वजदो सरूर होता है और हर तरफ अहले ईमान पर बाहर आई हुई होती है ऐसे में कुछ हैंडबिल तकसीम होते हैं कि खुशी ना करो क्यों अल्लाह तला ने फरमाया ले कई ला तसऊ अलामा कुम वला तफराहू बिमा आता कुम ला तफराहू अल्लाह तला ने फरमाया खुशी ना करो ला तफराहू उसका हुक्म है खुशी ना करो खुशी का इजहार ना करो उसने ये हुक्म फरमाया है लिहाजा जब उसका ये हुक्म है तो तुम खुशी का इजहार क्यों करते हो उसने फरमाया ला तफरहू नहीं फरमा दी है कि अगर तुम्हें कुछ मिलता है कोई नेमत आती है तो इस पर खुशी का इजहार ना करो तुम कितना खुशी का इजहार करते हो घर भी सजाते हो बाजार भी सजाते हो माफिलें भी मनाते हो और इतना खुशी और बजदो सरूर का इजहार करते हो जबकि पुराने मजीद तो कह रहा है ला तफरहू खुशी का इजहार ना करो सताइसवां पारा है ला तफरहू खुशी का इजहार ना करो अब ये लफज जो है इनका तर्जमा यह है मगर इनसे मतलब यह लेना कि सरकार की विलादत की खुशी ना की जाए ये मतलब लेना जुर्म है यह है मफहूम कुरान को बदलने की वारदात ला तफरहू अल्लाह ने किसी और बारे में फरमाया था उसको पकड़ के ला के मिला शरीफ की खुशी पर फिट कर देना यह मफहूम कुरान की वारदात है उसका रुख बदल दिया गया है रुख और तरफ था नहीं का उसको फेर के सरकार की जान की तरफ कर देना यह वारदात है अब देखो किस तरह इस वारदात की चोरी पकड़ी जाएगी अल्लाह तबारक बताला ने यह बताना चाहा कि लोगों जो तुम को तकलीफ पहुंचती है उस पर भी इतना कोई अफसोस ना करो और जो तुम्हें खुशी आती है उस पर भी खुशी का इजहार ना करो सब अल्लाह की तरफ से आ रहा है ये खबर अल्लाह फरमाता मैंने क्यों दी लिकई ला तासो ताकि तुम अफसोस ना करो अलामा फातकुम उस चीज पर जो तुम्हें नहीं मिल सकी वला तफरहू और उस पर तुम खुशी का इजहार ना करो जो तुम्हें मिल चुकी है कौन सी खुशी वो खुशी जो तकबर के तौर पर की जाती है वो खुशी जो तकबर के तौर पर की जाती है इससे वो खुशी मुराद नहीं जो शुक्र के अंदाज में की जाती है अल्लाह ने उस खुशी से मना फरमा दिया जो किसी को बेटा मिले तो शराब की दावतें करना शुरू कर दे किसी को माल मिले तो शराब के जायके उड़ाना शुरू कर दे अल्लाह ने फरमाया तकबर ना करो खुशी अगर करनी है कुल बिफदल्ला वहमती ही फबिजाले का फल यफरहू मेरा फजल है तो को दोनों आयात है मैंने अब जो पढ़ी ग्यारहवें पार की आयत है उधर था ला तफराहू खुशी ना करो इधर है फल जफराहू अमर है कि खुशी ये किया करें अब दोनों चीजें आ गई खुशी करो ना करो आम इंसान तो पगल हो जाएगा कि वाकई में एक चीज हो सकती है जायज या खुशी करना जायज है या ना करना जायज है कुरान मजीद दोनों को तो फरमाता है खुशी ना करो और फिर कहता है खुशी करो अब यह जुल्म होगा कि अगर कोई आपको सिर्फ वो आयत सुना के मिलाद शरीफ की खुशी से रोकना चाहे तो उसने बहुत बड़ी ज्यादा की कुरान मजीद के साथ इस वास्ते के कुरान मजीद का उसलूब यह है खुशी की दो किस्में हैं एक वो खुशी है जो तकबर में की जाती है और एक वो खुशी है जो शुक्र के अंदाज में की जाती है फल यफरहू में जो खुशी मनाने का हुक्म है ये वो खुशी है जो आजी और तकबर से की जाती है खुदा तेरा शुक्र है कि तूने अपने महबूब हमें अता फरवा दी है लिहाजा मिलाद शरीफ की खुशी ये लातफराहू का हिस्सा नहीं है ये फल फलजफराहू का हिस्सा है कुरान मजीद इसका तकाजा कर रहा है जिस तरह पिछली आयात तुमने देख ली हिसाब होगा सवाल होगा सब कुछ होगा अगरचे मुकाबले में दूसरी आयात भी पेश की जा रही थी लेकिन उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था ऐसे ही मिलाद शरीफ की खुशी कुरान मजीद को मतलूब है और जो मुकाबले में आयत पड़ी जा रही थी वो ऐसी नहीं थी उसका तल्लुक और बात से था खुशी तकबर वाली अल्लाह को पसंद नहीं है बल्कि खुशी करो अल्लाह की शुक्र में शुक्र के अंदाज में शुक्र के अंदाज में सिहाबा ने खुशी की थी मुस्लिम शरीफ में है वो मस्जिद नबी शरीफ में बैठे हुए बैठे हुए तस्करा कर रहे थे सरकार की आमद का सरकार बाहर निकले तो फरमा मेरे सिहाबा क्या कर रहे हो तो कहने लगे नद उल्लाह नह नहमदहू अला महदान अमन ना अली ना बेका महबूब हम ये कह रहे हैं फजल रब्बुल और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए ये इस सिर्फ का तर्जमा है सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है जब उन्होंने इस खुशी का इजहार किया तो सरकार ने फरमाया मेरे सिहाबा कसम उठाओ जब सिहाबा ने कसम उठाई तो फरमाया लम्बुम तोहमतन मैंने तोहमत के लिए शक की बुनियाद पर तुमसे कसम नहीं ली असल में जानी जिबरील हो फाकबरानी अन्नल्लाह जुबाही बेकुमुल एक था अभी जिबरील मुझे बता के गए हैं ए जमीन पे बैठकर मेरी खुशी मनाने वालों अर्श अजीम पे खुदा तुम पे फख्र कर रहा है अब ला रहू ला रहू या ला तफराह इन अल्लाहबुल फारहीन ये कोई आयात पढ़े और मकसद ये हासिल करना चाहे कितनी बदनसीबी और बदबख्ती है उसकी अगर उसको दूसरी आयत का पता नहीं तो फिर कम अज कम मुताला तो कर ले और अगर पता होने के बावजूद भी वो उसकी तरफ मुतवजह नहीं होता और गलत मतलब लोगों को समझाता है तो इससे बड़ी दुश्मनी अल्लाह के महबूब के साथ और क्या हो सकती है कि वो कुरान मजीद जो उनकी खुशी का हर लफ्ज में इजहार करता है उनकी आमद की खुशी उसी कुरान को पढ़कर रोकी जाए तो ये मफहूम कुरान पर वारदात हो जाएगी जिससे ना कुरान राजी होगा ना साहिब कुरान राजी होंगे फिर देखिए ये कल की बात है कि मेरे पास एक मौलवी साहब डेल्टा रोड से आए तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो बड़ा परेशान हूं कि मुझसे बार बार लोगों ने मुझे आय पाकर दिखाई है और मैंने पढ़ी है तर्जमा तो यही है तो मैं कोई जवाब नहीं दे सका और मगर दिल नहीं मानता कि जो कुछ वो कहते हैं कि वो सही हो उन्होंने कहा उन्होंने मुझे आयत दिखाई है इन्ना का ला तहदी मन अहबबता वला किन्न अल्लाह यह भी मैं ये शाह महबूब आप जिसे चाहें आप उसको हिदायत नहीं दे सकते अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत अता फरमाता है लिहाजा वो कहने लगे कि मुझसे वो बार बार कहते हैं कि नबी अकरम वसल्लम तो उनका कोई इख्तियार नहीं था वो तो किसी को हिदायत नहीं दे सकते थे वो तो किसी को सीधा रास्ता बता नहीं सकते थे वो हिदायत नहीं दे सकते थे ये बार बार मुझे वो कहते हैं तो मैंने कहा कितने अफसोस की बात है अब ये मफहूम कुरान का मौजू मैंने इस वास्ते मुंतखब किया कि कुरान मजीद बुरहान रशीद को माजल्ला आला कार बनाकर ये लोग गलत तबलीग कर रहे हैं कुरान मजीद की आयात सबको सामने रखने से फिर मफहूम का पता चलेगा जैसे मैंने अमसाल की सूरत में आपके सामने ये बात रख दी है वही अंदाज हर जगह अपना आ जाएगा तो फिर पता चलेगा कि हकीकत में कुरान कहना क्या चाहता है इन्ना का लातहदी मन अहबता आप जिसे चाहें उसे हिदायत नहीं दे सकते लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है इस आयत के एक हरफ का भी इनकार नहीं हो सकता और इस तर्जमे का भी इनकार नहीं हो सकता यह ठीक है मगर इससे यह मुराद लेना कि वो तो उनको कोई इख्तियार नहीं था वो तो कुछ कर नहीं सकते थे वो तो हिदायत नहीं दे सकते थे माजल्ला ये उसलूब निकाल के लोगों के सामने पेश करना ये बहुत बड़ा जुर्म है क्यों इस वास्ते कि अगर नबी अक्रम सल्लम ने हिदायत लोगों को नहीं देनी थी तो क्या करने दुनिया में आए थे उनको भेजने का मकसद क्या था सरकार को भेजने का मकसद ही यह था कि लोगों को बुद्धों से हटाकर अल्लाह की तरफ ले जाओ और इसी को तो हिदायत करते हैं जो कुफर में डूबे हुए हैं इनके कुफर को तोड़कर कुफर के ताले तोड़ो और इनके दिलों में अल्लाह की तोहीद के बीज बो दो सरकार तो हिदायत देने आए थे और यह कह दिया जाए कि वो हिदायत दे ही नहीं सकते तो फिर तो सारे का सारा मकसद ही फौत हो जाएगा मोहतरम सामीन हाँ, मैं चूंकि मौजू मुकम्मल करना चाहता हूं अब इसमें देखिए ये आयत पढ़ी जा रही है आयत सही है तर्जमा सही है मगर मफहूम गलत है मफहूम क्यों गलत है इस वास्ते कि क्या उस उस शख्स ने जो ये आयत पढ़ता है उसको पच्चीसवें पारे की ये आयत नजर नहीं आई अल्लाह तला फरमाते है इन्ना का अल्लाह तहदी इला सिरात मुस्तकीम बेशक मेरे महबूब आप सीधे रस्ते की हिदायत करते हैं इन्ना भी है लाम ताकीद का भी है व इन्ना का लता दी यकीन हिदायत करते हैं मैं फरमा इन्नामा अंत मुंजिरू वाले कुल्ले कौम इन हाथ हमने आपको मुंजिर बनाया है और हर कौम का नमा अंत मुंजिरू वाले कुल्ले कौम इन हाथ हमने आपको मुंजिर बनाया है और हर कौम का हादी बनाया है देखो एक बच्चा बच्चा भी सरकार को हादी समझता है लेकिन आज ये कुरान मजीद की आड़ में कितना बड़ा जुर्म किया जा रहा है कि ये कहना कि सरकार तो हिदायत ही किसी को नहीं दे सकते थे वो हादी नहीं थे हिदायत ना देना तो मतलब वला किन्न अल्लाह यह मैं ये महबूब आप जिसे चाहें आप उसको हिदायत नहीं दे सकते अल्लाह जिसे चाहता हिदायत अता फरमाता है लिहाजा वो कहने लगे कि मुझसे वो बार बार कहते हैं कि नबी अकरम वसल्लम तो उनका कोई इख्तियार नहीं था वो तो किसी को हिदायत नहीं दे सकते थे वो तो किसी को सीधा रास्ता बता नहीं सकते थे वो हिदायत नहीं दे सकते थे ये बार बार मुझे वो कहते हैं तो मैंने कहा कितने अफसोस की बात है अब यह मफहूम कुरान का मौजू मैंने इस वास्ते मुंतखब किया कि कुरान मजीद बुरहान रशीद को मादल्ला आला कार बनाकर यह लोग गलत तबलीग कर रहे हैं कुरान मजीद की आयात सबको सामने रखने से फिर मफहूम का पता चलेगा जैसे मैंने अमसाल की सूरत में आपके सामने ये बात रख दी है वही अंदाज हर जगह अपना आ जाएगा तो फिर पता चलेगा कि हकीकत में कुरान कहना क्या चाहता है इन्ना का दी मन अहबता आप जिसे चाहें उसे हिदायत नहीं दे सकते लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है इस आयत के एक हरफ का भी इनकार नहीं हो सकता और इस तर्जमे का भी इनकार नहीं हो सकता यह ठीक है मगर इससे यह मुराद लेना कि वो तो उनको कोई इख्तियार नहीं था वो तो कुछ कर नहीं सकते थे वो तो हिदायत नहीं दे सकते थे माजल्ला ये उसलूब निकाल के लोगों के सामने पेश करना यह बहुत बड़ा जुर्म है क्यों इस वास्ते कि अगर नबी अकरम वसल्लम ने हिदायत लोगों को नहीं देनी थी तो क्या करने दुनिया में आए थे उनको भेजने का मकसद क्या था सरकार को भेजने का मकसद ही यह था कि लोगों को बुद्धों से हटाकर अल्लाह की तरफ ले जाओ और इसी को तो हिदायत कहते हैं जो कुफर में डूबे हुए हैं इनके कुफर को तोड़कर कुफर के ताले तोड़ो और इनके दिलों में अल्लाह की तो हीद के बीच बो दो सरकार तो हिदायत देने आए थे और यह कह दिया जाए कि वो हिदायत दे ही नहीं सकते तो फिर तो सारे का सारा मकसद ही फौत हो जाएगा मोहतरम सामीन मैं चूंकि मौजू मुकम्मल करना चाहता हूं अब इसमें देखिए ये आयत पढ़ी जा रही है आयत सही है तर्जमा सही है मगर मफहूम गलत है मफहूम क्यों गलत है इस वास्ते कि क्या उस उस शख्स ने जो ये आयत पढ़ता है उसको पच्चीसवें पारे की ये आयत नजर नहीं आई अल्लाह तला फरमाता हुआ इन्ना का अल्लाह तादी इला सिरात बेशक मेरे महबूब आप सीधे रस्ते की हिदायत करते हैं इन्ना भी है लाम ताकीद का भी है वह इन्ना का लतादी यकीन आप हिदायत करते हैं फरमा इन्ना मा अंत मुंजिरू वाले कुल्ले कौमिन हाद हमने आपको मुंजिर बनाया है और हर कौम का हादी बनाया है देखो एक बच्चा बच्चा भी सरकार को आदि समझता है लेकिन आज ये कुरान मजीद की आड़ में कितना बड़ा जुर्म किया जा रहा है कि ये कहना कि सरकार तो हिदायत ही किसी को नहीं दे सकते थे वो हादी नहीं थे हिदायत ना देना तो मतलब यह है ना कि हादी नहीं थे हालांकि आपको हादी बनाकर भेजा गया और कुरान कहता इन्ना का लता दी इलाशिरात मुस्तकीम मेरे महबूब आप लोगों को सीधे रस्ते की तरफ ले जाने वाले हैं अब दोनों आयात सामने हैं इनका अब मफहूम क्या बनेगा मफहूम यह बनेगा कि अल्लाह तबारक मतला ने जो फरमाया है कि इन का ला तहदी मन था इसका मतलब यह था कि मेरे महबूब आप हिदायत के खालिक नहीं हैं आप हिदायत के खालिक नहीं है कि अपने पास से हिदायत को पैदा कर लें हिदायत का खालिक मैं हूं कासिम तो हो पैदा मेरी करता है और तकसीम आप फरमाने वाले हैं अब दोनों आयात सही है इन का लातादी मतलब यह है कि आप अपनी तरफ से पैदा करके किसी को हिदायत नहीं दे सकते वह इन्ना का लतादी और आप जरूर हिदायत देते हैं जो मैंने पैदा किया है आप उसको तकसीम फरमाते हैं कितना वाजे मतलब है और कितना इसमें हिदायत मौजूद है और कुरान मजीद की सारी आयात का इसके साथ इतफाक है अगर सिर्फ ये कहा जाए इन्ना का लातादी आप हिदायत ही नहीं दे सकते आप किसी की रहनुमाई नहीं कर सकते तो फिर आप दुनिया में तशरीफ क्यों लाए थे आप तो इतनी हिदायत वाले थे चमकता चेहरा हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने देखा तो दिल में इस्लाम दाखिल हो गया हजरत अबू राफे कहते हैं मुझे कुरैश ने भेजा था मैं पैगाम देने सरकार को आया था मैंने जब आपको देखा लम्मा रही तो हूं उल कियाफी कलबी अल इस्लाम आपकी तकरीर सुनना तो दरकिनार मैंने सिर्फ देखा तो दिल में इस्लाम दाखिल हो गया ये इतनी बड़ी हिदायत है सरकार की लिहाजा उस आयत का मतलब ये है आप हिदायत के खालिक नहीं है हिदायत मेरी मखलूक है मैं पैदा करता हूं आप कासिम हैं आप तकसीम करने वाले हैं अल्लाह के इजन पर जो भी जिसको भी अल्लाह तला चाहता है उसकी रजा के मुताबिक हर उस शख्स को आप हिदायत अता फरमा देते हैं अब देखिए कुरान मजीद बुरहान रशीद की एक और आयत एक साहब ने अगले दिन पेश की और रोजाना वो पेश करते हैं ये उनका हिस्सा है कि उन्हें ऐसी आयात की तलाश है कि जिनसे उनको कोई जरा भर गुंजाइश मिल सके और ये हमारी खिदमत है कि हम उनकी उस गुंजाइश को खत्म करने के लिए तैयार हैं कि पूरे का पूरा कुरान मजीद सरकार की तारीफ तो करता है सरकार के ऐब में नहीं जाने वाला सरकार की तारीफ इसमें मौजूद है आयत बड़े जोरदार अंदाज में उनके मुनाजिर और उनके लोग उन्होंने उनको याद करवा दी है पेश कर देते हैं कुल ला अमलिको ले नफसी नफाऊ वला दर्रन इल्ला माशा अल्लाह मेरे महबूब आप लोगों से फरमा दें कि मैं अपने नफ्स के लिए अपने जात के लिए किसी नफे नुकसान का मालिक नहीं हूं मगर जो अल्लाह तला चाहता है वो लो वलोकुन तो आलमुल गईबा लस्तक सर तो मिनल खैर अगर मैं गैब जानता होता तो बहुत सा खैर माल इकट्ठा कर लेता लिहाजा खुश है वो ये आयत पढ़ के कि उनको तो कोई इख्तियार नहीं किसी चीज के मालिक नहीं कुछ कर नहीं सकते उनका तो कोई ऐसा इख्तियार ही नहीं है वो गैब नहीं जानते ये आयत पेश करके अपनी तरफ से वो नुकता रूज पर पहुंच गए हैं और गुमराही का फंदा उन्होंने बिल्कुल तैयार कर लिया है हर शख्स को पकड़ते हैं आज सुनाते हैं उन्हें यह पता नहीं इस कुरान मजीद की आयात को तो शराबियों ने शराब के लिए भी पढ़ा इस आयत को तो जहनमियों ने जहनम से बचने के लिए कि जहनम का हिसाब नहीं होगा वो पढ़ते हैं आयत कुरान मजीद की उसे हिदायत देती है जिसकी आंखों में कुरान वाले की मोहब्बत मौजूद होती है अमलिक महबूब इनको फरमा दो मैं मालिक नहीं हूं अपने नफ्स के लिए किसी नफे का और किसी नुकसान का आगे तो वजो ही नहीं करते इल्ला माशा अल्लाह मगर वो जो अल्लाह चाहे चूंकि सरकार इस हद तक आजिज थे अपनी हर बात को अल्लाह की तरफ मंसूख फरमाते थे लोगों से कह दिया लोगों मैं अपने नफ्स नुकसान का मालिक नहीं हूं हां उसका मालिक हूं जो मेरा खुदा चाहता है मुतलकन मिलक की नफी नहीं की इल्ला माशा अल्लाह बाकायदा मौजूद है मगर वो जो मेरा खुदा चाहे मैं उसका मालिक हूं मैं उसका मुख्तार हूं जो मेरा खुदा चाहे मैं उसका मालिक हूं ये बद वक्त यही पढ़ के बुतों के साथ मिलाने की माजल्ला कोशिश कर रहे थे मैं चाहे से कहता हूं पूरे पुराने मजीद में जहां बुतों के नफा नुकसान की नफी की गई है वहां इल्ला माशाला के लफ्ज मौजूद नहीं है और सरकार वो है जिन्होंने नफी करके इल्ला माशाला में सबूत फरमा दिया है इलाह के बाद वाले लफ्ज अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर ला इलाह में तो सिर्फ इलाह की नफी है इस बात तो इलाह से होगा इलाह के अंदर इतना बड़ा इस बात है कि जिस इस बात के करीब फिर कोई नफी नहीं जा सकती ऐसे ही सरकार ने ला अमलेकों में हर मिल्क की नफी फरमा दी मगर इल्ला माशा अल्लाह में जिस मिल्क का सबूत फरमाया वो ऐसा मिल्क है मैं तो मालिक ही कहूंगा कि है मालिक के हबीब महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा जो शख्स आयत पढ़ता है अगर उसमें थोड़ी सी भी गैरत ईमानी हो तो काश अपने जमीर से पूछ ले उस बंदे से पूछा जाए क्या तू नमाज पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता वो कहेगा पढ़ सकता हूं तो क्या नमाज उसके ख्याल के मुताबिक हमारे के ख्याल के मुताबिक तो कोई उसको फायदा नहीं दे रही उसके ख्याल के मुताबिक क्या उसकी नमाज उसको फायदा देगी या नहीं देगी वो कहेगा देगी तो क्या तूने मादला नबी को अपने से भी अदला समझ लिया तू तो अपने आप को फायदा पहुंचा सके और नबी ना पहुंचा सके यही मतलब है ना ला अमले को नफसी नफा मैं अपने नफ्स को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता ये इस अंदाज में पेश कर रहे हैं कि सरकार माजल्ला ताहूत और बुत की तरह है कोई फायदा नहीं अपने आप को पहुंचा सकते अरे बदतमीज तू अपने आप को फायदा पहुंचा सकता है तो वो रसूलों के इमाम फायदा क्यों नहीं पहुंचा सकते कभी सोचा ही नहीं इन्होंने कि कितनी बड़ी हम जसारत कर रहे हैं किस अंदाज में इस आयत का मकसद यह है सरकार फरमाते हैं मैं जाति तौर पर तो तिनके का मालिक भी नहीं हूं मगर जो खुदा चाहे उसका मालिक जरूर हो जाति तौर पर इतनी आशी है और यही हकीकत है फरमा मैं किसी शह का अपने लिए भी मालिक न हूं मैं औरों को जो जन्नतें अता करता हूं ये सब कुछ मेरे खुदा की दी हुई चीजें हैं ये वो बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया था हजरत उकबा बिन आमिर कहते हैं खराज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल्ला सलात अल मय्यत आप ओहद के शहीदों के मजारात पर तशरीफ ले गए आपने वहां ऐसी नमाज उन पर पढ़ी जैसे कि मैयत पर पढ़ी जाती है सुमन सरफ इलल मिंबर फिर सरकार मिंबर पर बैठे और मिंबर पर बैठकर सरकार सरकार ने तकरीर फरमाई बुखारी शरीफ जिल्द नंबर एक सफा नंबर एक सौ उनासी पर वो सरकार का खिताब मौजूद है और उसका हर लफ सुन्नी के हर अकीदे को साबित करने वाला है सरकार जब मिंबर पे बैठे तो सिहाबी ने पहली वजात इसलिए कर दी कि कोई बदबख्त ये ना कहे कि खाब की बात थी कि सरकार पढ़ के हाथ उधर से ओहद के शुआदात से वापस जब आए तो मिंबर पर बैठ गए मिंबर पर बैठ कर आपने क्या फरमाया फरमा इन्नी फरतुल्लकुम मेरे सिहाबा मेरी उम्मत मैं तुम्हारा फरत हूं फर्क कौन होता है फर्क उसे कहते हैं कि सारा काफिला पीछे हो और एक पहले चला जाए जो जाकर उनके रहने का बंदोबस्त कर दे और मैं तुम्हारा फर्क हूं तुम क्या तक पहुंचोगे बाद में आओगे पहले हसन में खड़ा होगा सेहत के पास मौजूद होगा कौशर के जाम मेरे हाथ में होंगे सेहत मुस्तकीम और ताजों पर खड़ा होगा मेरी उम्मत कराने की बात नहीं मैं पहले जाके तुम्हारे लिए जन्नत को आबाद कर दूंगा मैं तुम्हारे लिए फर्द हूं नफा दिया या ना दिया नफा नफा वालों को होगा जो इसका अकीदा रखते हैं बुखारी की आदिश पहला लफ्ज यह है फरमा मैं तुम्हारा फर्त हूं फिर आना शहीद अलैकुम मैं तुम्हारा गवाह भी हूं शर्म रखना बाद में अमल करना नमाजों को ना छोड़ना मेरी उम्मत मैं तुम्हारा गवाह हूं तुम्हें देख रहा हूंगा मैं तुम्हारा गवाह हूं मैं तुम्हारा गवाह हूं तुम्हारा फत भी हूं तुम्हारा गवाह भी हूं तुम्हारे आगे भी हूं तुम्हारे साथ भी हो शहीद अलैकुम मैं तुम्हारा गवाह भी हूं फरमाया वल्लाह इन्नी वल्लाह खुदा की कसम खुदा की कसम सरकार उठा रहे हैं इन्नी वल्लाह लनजोरो इला अल्लाह खुदा की कसम इस मस्जिद नब्बी के मिंबर पर बैठकर मैं अब भी हौज कौसर को देख रहा हूं अब भी हौज कौसर को देख रहा हूं ये वो निगाह है जिनके बारे में मेरा यह अकीदा है कि वो गुम्बद खजरा से हमें देख रहे हैं ये हमने घड़ा तो नहीं ये तो सरकार का फरमान जमीन पर बैठकर जन्नत का हौज कौसर और खुदा की कसम जोरो मुजाहरे का सीगा है जो इस्तेलाह के मुताबिक तजद पर तजद और शिबात पर दर्ज करता है कि मैं हर लम्हा इस वक्त भी हौज कौसर को देख रहा हूं यह कहने के बाद आपने क्या फरमाया मोहतरम सामीन तकरीर का टाइम ऊपर जा रहा है मेरी एक गुजारिश भी सुन लें अगला हिस्सा वो क्या है सरकार ने इर्शाद फरमाया वह इन्नी वल्ला है ओती तो मफाती खजा इन अर्थ तोज्जो सारी हदीस की तरह रखनी है इन्नी वल्ला है कसम उठा के सरकार फरमा रहे हैं खुदा की कसम ओती तो मफाती खजा इन अर्थ जमीन के सारे खजानों की चाबियां अल्लाह ने मुझे अता फरमाई है यह किसी दीवान की बात नहीं मैं शेर पढ़ के तुम्हें दलील नहीं दे रहा किताबुल्लाह के बाद सही बुखारी का वर्तवा है और उससे हदीस तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं सरकार के ये अपने लफ्ज हैं और हम तक संत सही से पहुंचे हैं खाब की बात नहीं बेदारी की बात है सरकार ने कसम उठा के कहा खुदा की कसम ओ ती तो मफाती हा खजाइन लग खजाइन खजाना की जमा है फरमा एक दो खजानों की नहीं अल्लाह ने जमीन के सारे खजानों की चाबियां मुझे अता फरमा दी है जो जाता है इसलिए नवाजते हैं चाबियां उनके पास हैं फिर फरमाया मेरे सिहाबा वल्लाह इन्नी ला खाफ वाली कुमान तो शिरक दी ये भी हमारी हिमायत सरकार ने फरमा दी फरमा खुदा की कसम मुझे तुम्हारे मुझे अपने बाद तुम्हारे मुशरक होने का कोई खतरा नहीं है ला अखाफ वालेकुम अंतोश्रेकू बा दूर ना किया जाए मेरी उम्मत लारा साफ अलैकुम अंतोश्रेकू बादी मुझे तुम्हारे मुशरक होने का कोई खौफ नहीं है वला किन्नी अखाफ अलैकुम तनाफसू फरमा हां दुनिया की मोहब्बत में चले जाने का खौफ है पैसे की मोहब्बत आ सकती है माल की मोहब्बत आ सकती है मगर मेरी उम्मत कभी भी शिरक तुम में नहीं आ सकता जिन दिलों में मेरी मोहब्बत और मेरे खुदा की मोहब्बत आ गई है उन दिलों में कभी भी गैर की मोहब्बत फिर नहीं आ सकेगी ये सरकार का फरमान है और इसका हर लफ्ज जो है सदीस का उसमें देखो कि सरकार कितना फायदा देती है किस कदर फायदा देते हैं अरे फायदा क्या तस्वर तो हम कर सकते हैं वो लोग जो जहन्नम के गड़े में गिरे हुए थे सरकार को उन्होंने हलते ईमान में देखा तो जन्नतों के वारिस बन गए कितना बड़ा फायदा उनको मिला कि सरकार ने फरमाया जिसने इन्हें भी देख लिया वो भी जहन्नम में नहीं जा सकता ये उनका फायदा है और आयत का दूसरा हिस्सा लोकुन तो आलमुल गईब लस तक सर तो मिनल खैर अगर मैं गैब जानता होता तो मैं बहुत खैर इकट्ठी कर लेता इसके भी बहुत से जवाब हैं वक्त के इख्तसार के पेश नजर अब मैं आपकी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं ये आयत जो सरकार फरमा रहे थे अगर मैं गैब जानता होता देखना तो चाहिए कि सरकार ने किस सन में किस तारीख में यह हुक्म फरमाया था ताकि पता चले कि वो अल्लाह ताला जो ये फरमाता है कि तो माँ कान अल्लाहतलियाकुम गैब वलाकिन अल्लाह जज तभी मेरे रसुल ही शाह अल्लाह तुम्हें गैब नहीं देता लेकिन रसूलों को गैब अता फरमा देता है अब वही अंदाज जो शुरू से मैंने तकरीर में आपके सामने रखा है अब एक आयत को रख के सामने शराबी शराब की तरफ जा रहा था एक आयत को सामने रखकर बेअमल बेअमली की तरफ जा रहा था एक आयत को सामने रख के लोग अमीर उलमीन पर कुफर का फतवा लगा रहे थे एक एक को सामने रखकर लोग मिलाद की खुशी को रोक रहे थे हराम करार दे रहे थे और ऐसे ही एक आयत को रखकर उस महबूब के इल्म का इनकार कर रहे हैं जिनके इल्म से एक जर्रा भी पोशीदा नहीं है लोकन तो आलमुल गैब बड़ी रटा दी गई इनको काश के इधर भी तवज्जो हो जाती कि यह तो उस वक्त हुक्म था जब तक सरकार को गैब पर अल्लाह ने मुतले नहीं फरमाया था उस वक्त यह था और जब मुतले फरमा दिया फिर तो गैब आ गया अब इस पर क्या दलील है मेरे भाइयों दलील यह है कि यह आयत लौकुन तो आलमुल गैब ये नामे पारे में है सूरह आराफ में है और सूरह आराफ मक्की है और दूसरी आयत माकान अल्लाह अलल गैब वला किबी में रोसल ही मंज शाह ये ऐप जिसमें अल्लाह सरकार के लिए गैब का सबूत कर रहा है ये मदनी सूरत की है आले इमरान मदनी है अब मक्की सूरत में जो कुछ आ गया वो तो बदतीनत सामने रखते हैं और जिसने आके इसके हुक्म को खत्म कर दिया और सरकार के इलम के झंडे लगा दिए उस आयत को पढ़ने की तोफीक ही नहीं मिल रही कुरान मजीद का उसलूब इस बात को साबित कर रहा है यह सरकार ने उस वक्त फरमाया था जब तक अल्लाह तला की तरफ से गैब के खजाने अता नहीं फरमाए गए थे और जब फरमा दिए गए अल्लाह तला ने फरमा दिया माकान कान अल्लाह युतरियाकुम गैब वलाकिन अल्लाह तभी मेरे रसोल ही मंगे शाह ये अल्लाह तला ने फरमा दिया तो वो अकीदत हर सिहाबी का तालीम का आज तक के मुसलमानों का यही है कि अल्लाह तबारक व ने सरकार को गैर का फरमाया है और सरकार कायनात के जर्रे जर्रे का इलम रखते हैं ये बतौर मिसाल मैंने आपके सामने चंद आयात रखी पिछला जो पिछले साल का खुतबा है उसमें भी इसी तरह का मवाद और आखिर में खुलासा मौजूद है मेरी ये तकरीर मैं समझता हूं आप दुनिया में किसी के सामने कितना बड़ा नक्काब क्यों ना हो और कितना बड़ा जारे क्यों ना हो और कितना बड़ा किसी का झूठा मुबल्ले क्यों ना हो उनको यह पेश करके उनसे जवाब मांगे कि कुरान मजीद की आयात सामने है और इन दोनों किस्म की आयात जो है उनका सर्वे करो और आज वक्त है आज ले उनकी पना आज मदद मांग उनसे फिर ना मानेंगे क्यामत को अगर मान गया अशर का दिन आ जाएगा फिर बाकी तो ना कोई दफा नहीं पहुंचेगा आज वक्त है अपनी इन बुरी हरकतों से बाज आ जाओ और कुरान मजीद बुरहान रशीद के उसलूब को मत तब्दील करो मफहूम को मत बदलो ताकि कुरान मजीद जो किताब हिदायत है उससे सही हिदायत सबको हासिल हो सके मैं इसी पर गया अलहमदुल्ला रबीआलमीन ये दो करम या शफी उमम लिल्ला कर दो करम